धर्म का पालन करते हैं उसका पालन करते रहते धर्म बदलने में और छोड़ने में कोई सम दृष्टि नहीं है अद्वैत दृष्टि नहीं वो तो एक को बढ़िया समझेंगे एक को घटिया समझेंगे एक को बड़ा समझेंगे एक को छोटा समझेंगे सब फेरफार करेंगे मजहब बदलना धर्म बदलना ये सब भेद दृष्टि का परिणाम है अब भेद दृष्टि से तो जो जिस धर्म में है जिस मजहब में है वो कल्याण का साधन हो जाता है इसी से हमारे कट्टर धर्मात्मा लोग जो हैं सुमल काशी में थे उपाध्याय पंडित लक्ष्मण दास सिंह द्राविड़ महामोपाध्याय पंडित संतानंद उपाध्याय पंडित नित्यानंद पंत रामाचरण भट्टाचार्य बड़े बड़े विद्वानों की ये राय थी कि हिंदू मुसलमान हो ही नहीं सकता और मुसलमान को हिंदू बनाने की कोई जरूरत नहीं है जो तो अपने अपने धर्म में ठीक ठीक निष्ठा रखे तो उनका उसी धर्म में कल्याण होता है कहते हैं अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा हिंदू मुसलमान क्यों नहीं हो सकता समझ का अच्छा मैं बताऊंगा देखो मजाक की बात उन दोनों में तो बहुत परस्पर अति मजाक होता था बहुत दिन तक बीरबल गायब हो गए अब बीरबल ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो जमुना जी में कोई काम कर रहे हैं तो देखने गया कि क्या कर रहे हैं तो देखा उन्होंने एक गधे को तो भर भर के सोना शुरू कर दिया था अकबर ने पूछा है क्या कर रहे हैं बोले कर क्या रहा हूं इस गधे को चाय बना रहा हूं बैस बना रहा हूं सोचे कि देवकूट का एक गधा होता है तो उसने कहा कि कहीं देश बदल देने से मां का अनुभव उनको प्रमाण हो जाता है और तो हृदय की बनावट वैसा संस्कार वैसे निष्ठा होते तो पहली बात तो आप ये ध्यान में रखो ये झगड़े की जड़ है ये तुम्हारा मजहब छोटा हमारा मजहब बड़ा तुम अपना छोड़ के हमारे मजहब में आओ हमारा मजहब छोटा हम अपना मजहब छोड़ के तुम्हारे मजहब में जाए इसकी कोई जरूरत नहीं सयु को वैष्णव और वैष्णव को सयु होने की कोई जरूरत नहीं आप अपने धर्म का ठीक ठीक पालन कीजिए धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मा धर्मो न यह मानो धर्मो हतो वही जब हम धर्म को मार डालते हैं तो धर्म हमको मार डालता है और जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है सब धर्मों में ये सामर्थ्य है कि वो आपकी रक्षा करे एक बात दूसरी बात ये कि अपने चरित्र को वासना के अनुसार चलाने की कोशिश मत अपने चरित्र को अपने मन को आज्ञाकारी बनाइए दूसरी बात यह है आपका जो गुरु है ना उसको मत बदलिए श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि बाहर का गुरु मर जाए तब भी हमारे हृदय में जो गुरु की मूर्ति है वो मरती नहीं है उसको तो हमेशा चेतन रहती है इतना दूर रहती है उसको छोड़ने की जरूरत है और यदि बाहर का गुरु भ्रष्ट हो जाए तो बाहर का भ्रष्ट हुआ होगा जो हमारे मन में उसकी मानस मूर्ति है वो तो भ्रष्ट नहीं हुई वो तो बिल्कुल सुरक्षित है हमारे हृदय के एयर कंडीशन में है उसमें तो कोई गर्मी सर्दी है नहीं तो गुरु नहीं बदलता तीसरी बात है इष्टदेव बदलता बदलना अगर बदलना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे मन में कहीं स्थिरता कहीं प्रतिष्ठा नहीं होगी चौथे अपना मंत्र नहीं बदलना सब मंत्रों में एक ही शक्ति है तो ये मंत्र में इस मंत्र से ये काम नहीं हुआ तो अब ये करेंगे इस मंत्र से ये काम नहीं हुआ तो अब ये करेंगे ये मंत्रों का अपमान है वो इस देव से ये काम नहीं बना बना तो दूसरे देव से ये बनाएंगे तो वो इष्ट देव का अपमान करने वाले का तो कभी कल्याण है और एक बात अपने हाथ से जो अच्छा काम बने तो कर लो हमारे मरने के बाद ये अच्छा काम होगा ये ध्यान वो तो स्वार्थी लोग उसको बिगाड़ हैं जो वादा करते हैं ना कि हम तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा काम बढ़िया कर लेंगे वो तो किसी न किसी मतलब से ऐसा करता है हाँ। तो देखो धर्मनिष्ठा गुरु निष्ठा इष्ट निष्ठा मंत्र निष्ठा करके ये नरक पर वाला विभाग दूसरा वो हमारे नहीं अगले जन्म की बात दूसरी है मरने के बाद की बात दूसरी ओम मधु मधु यम पृथ्वी सर्वेशा भूताना मधु नारायण सूत्र कहते हैं ये पृथ्वी ये जल ये अग्नि ये वायु ये आकाश इक्कीस पदार्थों का नाम लिया हो ये सब मधु मधु है परमानंद है और ये जो प्राणी हैं ये इन भूतों के मधु हैं सामने भी मधु है और तुम भी मधु हो मधु में मधु की नदी बह रही है मधु में मधु मधु की तरंग बह रही है आनंद क्या देखने वाला भी मधु है देखने वाला भी मधु है ओम मधुस्वादारिदायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मादिभिर्नः सन्तोषधीः हवा मधुमय शहद की हवा बह रही है शराबी गुलाबी हवा बह रही है मधु मधु मधु इस समय यदि तुम्हें आनंद नहीं है सब कुछ इस समय है पृथ्वी मधु जल मधु अग्नि मधु वायु मधु आकाश मधु है मन मधु बुद्धि मधु तुम स्वयं जीव मधु तुम्हारा शरीर मधु इस समय तुम्हें मधु का आस्वादन नहीं होता है और तुम पिछले मधु की याद करते हो पहले पिछले भूत लगते हो अगले मधु की कल्पना करते हो इस मधु का तिरस्कार करते हो सामने पढ़ा अपना आपा परमात्मा है यही परमात्मा परमा तो अब तक ये बात सुनाए आनंद में से ही सृष्टि निर्माण की कामना होती है और आनंद की वृद्धि के लिए ही उसकी आलोचना होती है आनंद के लिए ही उसकी सृष्टि है आनंद के लिए ही उसमें परमात्मा का प्रवेश है आनंद के लिए ही अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादो अहम अन्नादा तैतरीय स्मृति आनंद मानता है आनंद बंदी है आनंद की लता ब्रह्मबंदी आनंद बंदी आनंद का जंगल है आनंद का उद्यान है आनंद के फुहारे उठ रहे हैं आनंद की वर्षा हो रही है आनंद की हवा चल रही है पिछली बात याद करने जाओगे तो वर्तमान का आनंद छूट जाएगा अगली बात की कल्पना करने जाओगे तो वर्तमान का आनंद छूट जाएगा खुद तो किए कुछ हुआ नहीं मरने के बाद की बात हो जब तक जिंदा है तब तक तो कुछ किए हुआ नहीं किया नहीं इकट्ठा करते रहे इकट्ठा करते रहे इकट्ठा करते रहे और मरने के बाद अच्छा तो भाई मेरे अहमन्नम अहमन्नन दो अन्ना मैं ही अन्न हूँ मैं ही भोग्य हूँ और मैं ही भोगता हूँ भोक्ता और भोग का जो भेद है वो व्यक्ति की दृष्टि से है तत्व की दृष्टि से नहीं एक ही परम परमात्मा है वही भोक्ता है और वही भोग्य है भोक्ता ही वो भोग्य भाव है ना तथा सर्वत्र संस्कृत तो अब तक ये प्रतिपादन किया ये निरूपण किया ये समझाया ये बताया कि सच्चिदानंद कंद पर ब्रह्म परमात्मा खाता थक भरपूर है उसमें अब तब तब का कोई भेद नहीं है यहाँ वहाँ कहाँ का कोई भेद नहीं है यह वह यह वह मैं तू का कोई भेद नहीं है ठसा ठस ओ पर ब्रह्म परमात्मा अच्छा अब आगे सुधार हम लोग गए थे एक बार सत्संग करने और अपने घर से पांच बीस दूर गए थे वो गंगा किनारे तो हमारे बुजुर्ग भी थे हमारे मित्र भी थे हम लोगों ने खा पी के बारह बजे यात्रा शुरू की थी एक की दो पहली में बहुत धूल कर रहे नंगे पांव नंगे वहां पहुंचे महात्मा जी ने अपनी कुटिया में बुला लिया नौ प्रश्न लेकर हम गए थे पूछा नहीं जान बैठे उन्होंने सबका उत्तर अपने हाथ दे दे लौटने पर ठाकुर प्रसिद्ध नारायण सिंह थे वो हमारे उत्तर प्रदेश के खास व्यक्ति थे उनसे मैंने पूछा कि हैं इस सत्संग का अभिप्राय क्या था तो उनके मुंह से ये शब्द निकला था हमको याद रहता है शतार्थक ठोस जिसमें दूसरी किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं दुख में जिसमें दुख नहीं जिसमें जड़ता नहीं जिसमें अदत नहीं जिसमें द्वैत नहीं पर आत्मा से अलग नहीं ब्रह्म से आत्मा अलग नहीं आत्मा से ब्रह्म अलग नहीं बिल्कुल लगातार होता अब देखो इस पर एक सवाल एक प्रश्न खड़ा होता है परिच्छा तो जैसे ज्ञानी ब्रह्म है वैसे अज्ञानी भी ब्रह्म है क्योंकि के द्वारा दूसरी कोई वस्तु ही नहीं अब प्रश्न यह है कि ज्ञानी भी ब्रह्म अज्ञानी भी ब्रह्म तो जब दोनों ब्रह्म भी हैं तो अज्ञानी अज्ञानी होने पर भी मुक्त है क्योंकि ब्रह्म है और यदि ज्ञानी यदि अज्ञानी ब्रह्म होने पर भी बद्ध है तो ज्ञानी भी बद्ध है और यदि ज्ञानी ब्रह्म होने के कारण मुक्त है तो अज्ञानी भी ब्रह्म होने के कारण मुक्त है यदि ब्रह्म होना ही मुक्ति है तो ज्ञानी और अज्ञानी में भेद नहीं होना चाहिए ज्ञानी भी मुक्त अज्ञानी भी मुक्त ये प्रश्न इसका समाधान करते हैं प्रश्न विद्वान ब्रह्मे के मुक्त से मुझे राज्यों व्यवस्था यदि ज्ञानी ब्रह्म होने के कारण मुक्त है तो अज्ञानी भी ज्ञानी के समान ही ब्रह्म है उसकी भी मुक्ति हो जानी चाहिए ब्रह्म रूपों की पक्षे और यदि अज्ञानी ब्रह्म रूप हो करके भी बद्ध है तो ज्ञानी को भी बद्ध ही होना चाहिए यदि ब्रह्म रूप होना ही मुक्ति का हेतु है तब तो फिर चीटी में और ब्रह्मा में कोई फर्क ही नहीं है दोनों मुक्त है और कंपोर के बाबा आए थे हमारे हमारे मित्र चक्र जी थे वो तो उनके लिए रोटी बना देते थे छप्पर भी रहते थे पर जब वो खा लेते तो हम लोग उनका प्रसाद खा लेते बच्चे थे तो हमारी जात बिरादरी के जो ब्राह्मण लोग हैं वो इकट्ठे हुए और उनसे जाके पूछा घेर लिया लाखों ब्राह्मण विद्वान पंडित जान बिरादरी के बड़े बड़े लोग महाराज हमारे बालक आपका रूठा खाते हैं आप कौन हैं किसी को मालूम ही नहीं था नब्बे बरस की उम्र के दौड़ते थे हम लोग उनको छू नहीं सकते थे हम अठारह बरस के जब वो नब्बे बरस के जब दौड़ते थे तो हम उनको छू नहीं सकते थे दौड़ते वो मजेदार है छोड़ो महाराज तुम्हारा सब लोग उठा खाते हैं हमारे बच्चे उठा खाते हैं तो वो बोले कि जो मच्छर है सूर्य में जो चिड़िया है सूर्य में जो पशु है सूर्य में जो तुम हो सूर्य में इस सकल सूरत का फर्क है वो आत्मा का फर्क नहीं है ये फर्क ही राजवेश बनाता है हमारे पास कैसा रहे तुम्हारे पास न रहे हम अच्छा खाएं तुम खराब खाओ हम मालिक रहे तुम नौकर रहो ये जब ये अद्वितीयता समझ में आ जाती है तो भागवत का कहना है एवं विमृश्य सुधियो विरमन की शब्दा जब सदबुद्धि पुरुष को ये मालूम पड़ जाता है कि सदैकरी है उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं रहती ये अच्छा है ये बुरा है ये बड़ा है ये छोटा है सब ये कई तराजू के धक्के करते हैं एवं विमर्श सुधियो विरमंती क्षमता ये विचार करके विद्वान पुरुष बुद्धिमान पुरुष शब्द से उपराम हो जाते हैं किसी को कुछ कहने की जरूरत जो होता है तो हो नहीं जो बोला जाता है तो बोला जाता है जो किया जाता है तो किया जाता है हाँ, ये ये राजनीतिक नेतृत्व नहीं है ये अर्थशास्त्र सोना जेवर बना और जेवर सोना हो गया माटी से घड़ा बना और खड़ा माटी खड़ा माटी माटी घड़ा खड़ा माटी माटी घड़ा इसको कोई रोक सकता है इस परंपरा को कोई रोक सकता है जीवन मृत्यु मृत्यु जीवन जीवन मृत्यु हमारे काशी में काशी में चार कोने हैं चार कोने पर चार सिद्ध निवास कर रहे हैं एक ही काल चार सिद्ध एक और मुगल के बाबा थे एक और मधेपुर के बाबा थे एक और सूर्यचंद कृष्ण के बाबा थे हरियल बाबा थे तो वर्णा और गंगा की जहाँ आके मिलती है वर्णा और गंगा का जहाँ संगम है वहाँ एक महात्मा रहते हैं उनको ला के किसी ने उन दिनों में वो चांदी के लाख रुपए दें तो उन्होंने अपने शिष्यों को हुक्म दिया कि तुम लोग एक लाख का रुपए की तरह करो और दोनों को दोनों और रख कर एक बार वोट फेंके कन्या दी और एक बार वोट और सदा बताओ अर्थशास्त्री के लिए राजनीति शास्त्री के लिए समाज शास्त्री के लिए ये कितनी बड़ी हानि की बात है निर्माण के लिए ये जो हम बाहरी वस्तुओं को बहुत महत्व दे रहे हैं मालूम पड़ता है कि ये आदमी आत्मा को महत्व दे रहा है कि पैसा को महत्व दे रहा है जीवन को महत्व दे रहा है कि मृत्यु को लोगों के भला को महत्व दे रहा है अपने बड़प्पन को महत्व दे रहा है बात मालूम है अच्छा कहो अब इसका उत्तर सुनो यदि अज्ञानी ब्रह्म होने पर भी बद्ध है तो ज्ञानी को भी ब्रह्म होने पर बद्ध ही होना चाहिए और यदि ज्ञानी ब्रह्म होने के कारण मुक्त है तो अज्ञानी को भी मुक्त होना चाहिए बोलेगी भाई बस ऐसा नहीं हम ब्रह्म होना मुक्ति का कारण नहीं मानते कोई ब्रह्म है इसीलिए वो मुक्त नहीं है तो सब क्या है देखो भ्रम से बद्ध है और प्रमा से मुक्त है बंधन का हेतु भ्रम है अज्ञान है नैवं ब्रह्मात्मैक्यकोश एवैको मोक्षकारणम् मुच्यते तो वेददर्शी न मुच्यते जिसको आत्मा की ब्रह्मरूपता का ज्ञान है और जिसको आत्मा की ब्रह्मरूपता का ज्ञान नहीं है वो पद है बंधन और मुक्ति में ज्ञान अज्ञान की प्रधानता है ब्रह्म होने की प्रधानता नहीं देखो इसी से ज्ञान संप्रदाय बनेगा जहाँ से ज्ञान होगा जिस क्रम से संप्रदाय माने साधना का एक विशेष क्रम विशिष्ट क्रम इसको संप्रदाय बोलते हैं सबल्लभ संप्रदाय है वापरस्त रहो मर्यादा का पालन करो और ठाकुर जी की सेवा करो कोई सुअर को मानता है कोई मछली को मानता है कोई घोड़े को मानता है, हैं कोई चार हाथ का भगवान मानता है कोई दो हाथ का भगवान मानता है कोई काला मानता है कोई गोरा मानता है, है? वो तो अपनी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है जो सब में एक रहकर सबसे परे है और जो अद्वितीय है जिसमें सब है ही नहीं उस पर ब्रह्म परमात्मा का अज्ञान ही बंधन का हेतु है देखो खड़े को डर है किस बात का हमारे ऊपर छाती पड़ेगी हम हवा में पकाए जाएंगे हम दो दो पैसे में देखेंगे ये डर है किसको तो खड़े यदि खड़ा अपने को खड़ा मानना छोड़ दे अपने को माटी जान ले मानना छूटे कैसे अपने को माटी जान ले तो न पैदा होने का डर है न मरने का डर है और इसी को तत्व ज्ञान बोलते हैं आप अपने को व्यक्ति के रूप में नहीं तत्व के रूप में समझिए व्यक्ति दृष्टि दूसरी चीज है और तत्व दृष्टि दूसरी चीज है व्यक्ति दृष्टि में पाप होता है व्यक्ति दृष्टि में पुण्य होता है व्यक्ति दृष्टि में नरक स्वर्ग होता है व्यक्ति दृष्टि में रागत द्वेष होता है व्यक्ति दृष्टि में जन्म पुनर्जन्म होता है सबको दृष्टि में न नरक है न स्वर्ग है न पाप है न न राग है न द्वेष है न जन्म है न मृत्यु है ये व्यक्ति दृष्टि का जो बंधन है यही संपूर्ण अनर्थों का हेतु है तुम समझते हो ये बात जाएंगे हमने और जवान करते हैं उसे जिंदा रहते हैं क्या कल्पना है सृष्टि के संबंध में कल्पना करने की जरूरत क्या है तुम्हारी अक्कल में मौत भर गई तुम्हारी अक्कल में जन्म भर गया तुम्हारी अक्कल में जो असली तत्व है ब्रह्म है वो तो भरा ही नहीं तो मान्यता की बात छोड़ दो आदमी अपने को दे अति मानस राम का पुतला मानता है उससे कम अनजान अपने को सास मानता है उससे कम अनजान अपने को मन मानता है उससे कम अनजान अपने को विज्ञान मानता है उससे कम अनजान अपने को सुखी दुखी मानता है और जो पूरा जानकार है वो अपने को अद्वितीय ब्रह्म जानता है तो ये मूर्खता की मान्यताएं यही बंधन के कारण हैं और जो विवेक की ज्ञान की जो अनुभूति है वो मुक्ति का कारण है कुछ होना ना होना इन्होंने बड़े बड़े जगह किए तो मुक्त हो जाने तो बोले भाई इसमें क्या प्रमाण है हम दर्शन है कहीं जाना होता ना तो, तो गुरु जी से पालकी में जाते हैं रात क्षेत्र में पालकी चलती तो दूर कोई रोशनी देखती हो तो रोशनी भी ऐसी जो जिंदगी हम तो कहते झूठ है डर जाते तो हमारे साथ जो जानकार होते वो तो बताते भूत नहीं है लालटेन है अब हम शंका करते कि लालटेन है तो हिलती क्या है तो लालटेन नहीं हिलती है बीच में पेड़ पौधे हैं वो जब बीच में आ जाते हैं तो रोशनी नहीं दिखती है वो जब हट जाते हैं हवा से तो रोशनी दिखती है हाँ, ये पेड़ पौधे हिलते हैं रोशनी का हिलना मालूम पड़ता है हाँ, तो देखो हम तो डरते थे पूछते हाँ देखा एक पेड़ था हाँ, रात को चल रहे थे अरे बाबा वो क्या है देखो वो धूप खड़ा है तो बाबा तो हंसने लगे बोले नहीं नहीं भूत है चोर है क्या है क्या है अरे वो तो एक फूस है भाई एक पेड़ है उसके पत्ते झड़ गए फल नहीं है फूल नहीं है गाड़ी टूट गई लेकिन उसका तना खड़ा है वो आदमी नहीं है वो भूत नहीं है वो तो पेड़ है तो देखो ऊर्ध्वाकार समय के अंत में चोर करती दोनों आदमियों को वो एक तरीका ही रहा है पर एक को भ्रम होता है कि वो चोर है तो वो डरता है डाकू है डरता है भूत प्रेत है डरता है और एक आदमी को मालूम है कि वो ठूक है तो नहीं डरता है तो ऊपर से तो दोनों के लिए वो एक तरीका दिखता है परंतु जिसको भूत का चोर का डाकू का भ्रम है वो डरता है और जो समझता है कि ये स्थानु है ये ठूक है उसको भय नहीं लगता दोनों में फर्क पड़ा जानकारी और गैर जानकारी का जानकारी और जानकारी न होने का फर्क पड़ा कि नहीं जो जानकार है उसको कोई डर नहीं है और जो जानकार नहीं है उसके लिए डर है ऊर्ध्वाकारे समय यशने चोरदर्शी विदेशी खानदर्शी निर्भयो कहा तत्व प्रयोजक इसलिए भाई मेरे मुक्ति और बंधन का हेतु ब्रह्म नहीं है ब्रह्म तो एक तरीका है सात का ब्रह्म एक तरीका है लेकिन मान मानी बंधन में आयो बिना सोचे बिना गुजारे बिना विवेक के बिना सत्संग के और किस शास्त्र में पढ़ के तुमने अपने को और शरीर माना इस अनुसंधान से अपने को शरीर माना क्या विवेक किया क्या ज्ञान प्राप्त किया क्या कर्तव्य किया कि अपने को शरीर मान लिया देखो संसार का एकांतिक है आप तो पहचानते हो कि मेरा नोट है निशान बनाकर के रखते नोट भी आपको पहचानता है हीरा मोती गिन्नी रुपया आपको पहचानते हैं कि ये मेरे मालिक है एक तरफा बात हो गई ना कि इसका मालिक मैं हूँ ये मेरा है बिल्कुल एक तरफा बात हो गई देह के लिए भी ऐसे ही है इसी से श्रुति ने कहा अमृते नहीं प्रत्युढ़ा मनुष्यों के जीवन का संचालन कौन कर रहा है बोले एक दूध एक अध्याय अनृत ही नहीं पर निहारेण प्रादृशा अध्यक्ष असुकृपा दुख साकश्चर बुद्धि में घोर अंधकार छाया हुआ है मजहब के लिए लड़ाई होती है मेरा मजहब तेरा मजहब मंदिर मस्जिद के लिए लड़ाई होती है वैष्णव शैव की लड़ाई होती है वृंदावन में कई बार देख चुके हैं एक बार निम्बारक संप्रदाय और गलत संप्रदाय की ऐसी लड़ाई हुई दोनों ओर से एक घर से चले और दो मुकदमा हो और लड़ाई क्या थी किस बात की आप सुनेंगे तो हंसेंगे वल्लभ संप्रदाय का कहना था कि ठाकुर जी को जो मुकुट माना जाता है ना वो दाहिने ओर लटकता है और जो के संप्रदाय का कहना था कि दाहिने नहीं बाई ओर लटकता है उनका कहना था कि जब प्रिया जी को ऐसे करके श्याम सुंदर देखते हैं बाई ओर तो मुकुट दाहिने को लटक जाता है और उनका कहना था कि प्रिया जी के ऊपर पड़े जिसके लिए श्याम सुंदर अपने मुकुट से छाया कर देते हैं अब मुकुट कैसे बंधवाना जाए इस बात को लेकर झंडे इसी को कहते हैं मजहबी भूत दंड दंड ही नहीं चला मुकदमा गया मथुरा के जज के पास मुकदमा हुआ चला है ना और उठा अंग्रेज अंग्रेजों के जमाने उसने फैसला लिया कि न दाहिने झुकाओ न दाए झुकाओ बिल्कुल सीधा रखा हमारे धर्म के बारे में जज निर्णय देगा इस देव के बारे में जज निर्णय देगा कानून दूसरी चीज है धर्म दूसरी चीज है और भक्ति दूसरी चीज है आत्मज्ञान दूसरी चीज है समाधि दूसरी चीज है और यहाँ तो मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे और न्याय दर्शन पर और मीमांसा दर्शन पर और वेदांत दर्शन पर जाके वो व्याख्यान झाड़ा उद्घाटन किया जी हुजूर लोग इकट्ठे हो गए जागरूक की कड़ी बड़ा बढ़ गया असल में ब्रह्म होना ये मुक्ति या बंधन का हेतु नहीं है अपने आत्मा को ब्रह्म न जानना ये बंधन का हेतु है और अपने आत्मा को ब्रह्म जानना हो ब्रह्म होना नहीं ब्रह्म जानना मान बैठना भी नहीं मान बैठना तो विचार की कक्षा में कुछ कीमत नहीं रखता है ज्ञाते कर्म कांडार्थे वेदांतार्थ समझानता जन्मादिर्भवत्येव वायुवादीनाम तथा तथा बोले खूब कर्मकांड को जान ले लेकिन वेदांत को न जाने तो वेदांत कोटि नहीं है वेदांत का हमारे कई मित्र हैं और उनको कंठक है एक मित्र हमारे मित्र कहो बुजुर्ग कहो बड़े थे दिल्ली में रहते थे बहुत उनको बीसों ग्रंथ जबान पर थे सवेरे से वो पाठ ही करते रहते थे तो शब्द का ज्ञान दूसरा होता है और शब्दार्थ का ज्ञान दूसरा होता है जब तुम बोलते हो तो मालूम पड़ जाता है कि तुम शब्दों को दोहरा रहे हो जिस वस्तु का अनुभव तुम्हें हो रहा है कोई अपने को छिपा थोड़ी तो सकता है क्रोध आता है तो आंख लाल होती है काम आता है तो उत्तेजना होती है और जीप की वासना होती है तो जीप पर पानी आता है मुंह बिगड़ जाता है, है? और तुम सोचते हो कि हम अपनी देवभूति को छिपा के भीतर रखेंगे एक एक बात में देवभूति जाहिर होती है तो ये आदमी समझना नहीं है कि आदमी क्या चाहता है ये आदमी क्या काम करता है तन्मात्रा सब के शरीर में से एक तरह की तन्मात्रा प्रकट होती है और वो मालूम करती है तो कर्मकांड खूब खूब कर्मकांड जानता हो चारों वेद कंठस्थ हो छो शास्त्र कंठस्थ हो वेद के सारे अंग ज्ञात गए परंतु यदि वस्तु का साक्षात्कार नहीं होता संस्कार नहीं मिलेगा अभय प्रतिष्ठा मिलते जन्मादिवीर भगवत्यव दृष्टान नाम दिया की सूर्य ईश्वर के डर से हवा चलती है ईश्वर के डर से शीघ्र रोशनी देता है एक एक का नाम लेते बताया बोले इनका तो डर सही ही नहीं ये तो अपने पूर्व जन्म में बड़े भारी धर्मात्मा थे इतना बड़ा धर्म किया कि सूर्य हो गए इतना बड़ा धर्म किया कि लोगों को सांस देने वाले वायु हो गए इतने बड़े धर्मात्मा हुए कि उनको सबको मारने का संहार का सामर्थ्य प्राप्त हो गया हाँ, तो सब लेकिन डरते रहते हैं वायु डरती रहती है आग डरती रहती है सूर्य डरता रहता है मौत डरती रहती है धर्म ज्ञाप तत्व ये पूर्व जन्म में धर्मात्मा जरूर थे लेकिन इनको ब्रह्म ज्ञान नहीं करता धर्मात्मा होना दूसरी चीज है वो दिन भर में सत्राधार नहाना ये दूसरी चीज है हम एक महात्मा जी के पास थे शिवरात्रि के दिन जाने मदद करते थे पच्चीस पूजा हुई सबने देव देव के भोग करते गाय के भोग करते सब अब वो एक भोग छूने के बाद जब हम अपने कपड़े को ऐसे छू लेते तो कहते कि स्नान करके आओ पैंतीस बार स्नान करना पड़ा हमको उनकी पूजा करवाने स्नान करना भूखे रहना धर्म है तीर्थ में जाना धर्म है ओम करना धर्म है व्रत करना धर्म है ये सब धर्म है और धर्म का फल होता है धर्म दूसरी चीज है और तत्व ज्ञान दूसरी चीज है धर्म के फल से आपको बड़प्पन मिलेगा आपको कुर्सी मिल जाएगी बहुत ऊंची कुर्सी मिलेगी इंद्र की कुर्सी मिलेगी ब्रह्मा की कुर्सी मिलेगी बहुत दिन के लिए यदि भी दो दिन में उधर जाए है ना उसकी उम्र पांच बरस की हो ऐसा नहीं ऐसी कुर्सी नहीं मिलेगी ऐसी कुर्सी मिलेगी जो मनवंतर पर्यंत कल्प पर्यंत महाकल्प पर्यंत रहे आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा ठीक है लेकिन यदि आपको आत्म ज्ञान नहीं है ब्रह्म ज्ञान नहीं है अपने आत्मा को ब्रह्म रूप में नहीं जानते हैं तो डरते रहेंगे हाँ। ब्राह्मणों की भयम यस्मात द्विपरार्थ परायुष ब्रह्मा की आयु दो परार्थ है अब अधेर हो गए हैं पचास वर्ष ब्रह्मा का सौ वर्ष आयु मान लो तो पचास वर्ष अब उनका बीत चुका है इक्यावनवे में कर रहे हैं परंतु उनको डर लगता है अरे हम तो मर गई मरेंगे हम तो मरेंगे मरेंगे ब्रह्मा को भी मरने का डर लगता है विपराध परायण सबसे बड़ी उम्र ब्रह्मा की और वो डरते रहते हैं कि अब मौत आई अब मौत आई अब मौत आई लेकिन यदि उनको ब्रह्म ज्ञान होता ब्रह्मा चीटी हो जाता है कभी कभी कर्म के फल स्वरूप ब्रह्मा चीटी हो जाता है चीटी ब्रह्मा हो जाती है गाय का अभिमान है यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो ब्रह्मा ब्रह्मा के पद का भोग करके हाँ, फिर छोटी जो आ जाएगी और छोटी जोड़ी वाला जो है वो छोटी जोड़ी भोग के अपने धर्म का फल भोगने के लिए उत्तम जोड़ी में चला जाएगा लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं है तब तक जन्म है मरण है नरक है स्वर्ग है और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की जो बात है वो राजद्वेश ये भाई भतीजा नहीं है सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात दुनिया में यही है कि हमारा सिर गंदा रहता है उसमें क्रोध दृष्टि की आग जल रही है उसमें काम का तूफान उठ रहा है सबसे दुर्भाग्य की बात सबसे गंदी बात यह है यदि मनुष्य को इस एकता का इस अद्वैता का इस ब्रह्म रूपता का बोध हो जाए ये जो दिल का तूफान है ये मिलता न पाप न पुण्य न नरक न स्वर्ग न राग न द्वेष न सुख न दुख कर्तृत्व भोक्तृत्व संसारित्व और परिच्छिन्नत्व ब्रह्म ज्ञान चार बात समझाता है चार बात एक तो करता था पाप और दूसरे भोक्ता था सुख और दुख और तीसरे संसारी था राग देश नरक स्वर्ग ये सब संसार आना जाना और चौथी परिच्छिन्नता मैं एक महदू एक चुट एक अणु एक अंश मैं परिच्छिन्न हूं ये प्रचार क्रांति तत्व ज्ञान बिता देता है कर्तृत्व की भोक्तृत्व की संसारित्व की और परिच्छि ये ज्ञान ब्रह्म नहीं मिटाता ब्रह्म तो इनका प्रकाशक है इनको रोशनी देता है ब्रह्म तो इनको सत्ता देता है इसको रोशनी देता है और इनमें सुख और इनको सुख देता है ब्रह्म तो इनको सत्ता देता है ज्ञान दे, प्रकाश देता है आनंद देता है ब्रह्म तो सामान्य चेतन है जब विशेष ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होता है वेदांत के द्वारा ब्रह्मात्मय के बोध होता है तब वो बोध जो है वो अज्ञान को है अज्ञान के चार विरासों को मिटा देता है इसलिए ब्रह्म होना काफी नहीं है ब्रह्म को जानने के लिए वेदांत संप्रदाय की आवश्यकता है